सुफियान यूनुस मोहम्मद बिन वलीद जुबैदी और मामर सब ने जोहरी से माली की सनत के साथ इस कौल के सिवा ये भी मुंह मोड़ ले और वो भी मुंह मोड़ ले उन्हीं की हदीस के मानद रिवायत की मगर मालिक बिन अनस के सिवा सब ने अपनी हदीस में ये अल्फाज कहे ये भी उसकी तरफ न देखे वो भी इसकी तरफ न देखे सही मुस्लिम हदीस नंबर छह हजार पांच सौ तैतीस